प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों जो भी धार्मिक व्यक्ति धर्म की गहराई में जाने की इच्छा रखता है वो अपने बाह्य शुभ कर्मों के साथ साथ अंतर्मुखी होना भी प्रारंभ करता है और धार्मिकता के साथ अध्यात्म भी जुड़ता है योग जुड़ता है और उसके साथ साथ ध्यान भी जुड़ता है आजकल ध्यान के बारे में पर्याप्त चर्चा होती है बहुत लोग ध्यान सीखते हैं अभ्यास करते हैं जो आस्तिक हैं वे भी ध्यान करते हैं और जो नास्तिक हैं वे भी ध्यान करते हैं जो आस्तिक हैं उनमें भी साकार हैं परमात्मा को साकार मानते हैं वे भी ध्यान करते हैं और जो निराकारवादी हैं परमात्मा को निराकार मानते हैं वे भी ध्यान करते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते आत्मा को मानते हैं वे भी ध्यान करते हैं जो परमात्मा को भी नहीं मानते आत्मा को भी नहीं मानते वे भी ध्यान करते हैं और ध्यान की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं प्रचलन में है जितनी भी भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं पर एक बात को सभी स्वीकार करते हैं कि ध्यान में किसी एक विषय पर केंद्रित हुआ जाता है अपने को विभिन्न विषयों से हटा करके विभिन्न विचारों से हटा करके एक विषय पर केंद्रित करते हैं महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ध्यान की परिभाषा दी लक्षण दिया वो ज्ञान की एकतानता के रूप में दिया ज्ञान का एक बने रहना प्रत्यय की एकतानता ज्ञान की एकतानता तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यान और इस बात को न्यूनाधिक रूप से सब स्वीकार करते हैं इसको स्वीकार करते हुए भी जो प्रक्रियाएं हैं ध्यान की उनमें भिन्न भिन्न विषय आते हैं तो एक साधक के मन में ये प्रश्न उठ सकता है उठता है कि ध्यान का मतलब एक ही विषय लगातार चलता रहे लेकिन इनमें तो वो बदल रहा है जो ईश्वर को तो नहीं मानते या मानते भी हैं तो श्वास पर मन को लगाते हैं वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया है आते जाते श्वास को देखते हैं तो एक विषय यानी श्वास बना हुआ है लेकिन कोई इसमें ये कहे कि श्वास को अंदर लेना अलग बात है श्वास को छोड़ना अलग बात है अंदर लेते समय भी श्वास का प्रारंभ है फिर मध्य है वेग अलग है संवेदनाओं को देख रहे हैं इसमें भिन्नता तो होती है और यदि भिन्नता है तो फिर ये एक ही विषय कहां रहा जो आस्तिक लोग ध्यान को उपासना के साथ में जोड़ते हैं ध्यान के काल में परमात्मा का स्मरण करते हैं उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं वे विभिन्न शब्दों का मंत्रों का प्रयोग करते हैं या भजन की किसी पंक्ति का अंश का प्रयोग करते हैं वहां पर भी ये प्रश्न उठता है कि यदि हम कई मंत्र बोल रहे हैं तो एक मंत्र के बाद में दूसरा मंत्र आया तो फिर ये विषय बदल गया तो ध्यान कहां रहा हो एक ही मंत्र रहना चाहिए और एक मंत्र पे भी केंद्रित होते हैं तो उस एक मंत्र में भी बहुत से शब्द हैं भिन्न भिन्न शब्द हैं अनेक शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं यद्यपि वो सारे शब्द मिलकर के एक मंत्र बना है एक विचार बना है लेकिन अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग शब्द हैं वहां पर तो जिज्ञासु के मन में साधक के मन में अनेक बार ये प्रश्न आ जाता है जब हम मंत्र के भिन्न भिन्न शब्दों को बोलते हैं तो मन तो बदल रहा है हमारा बुद्धि तो बदल रही है भिन्न भिन्न विषय को हम उठा रहे हैं फिर कुछ व्यक्ति ध्यान में किसी एक शब्द को लेते हैं एक शब्द को या तो ओम शब्द ले लिया अथवा ऐसे ही कोई दूसरा शब्द ले लिया उसी शब्द का पुनः पुनः स्मरण करते हैं बोलते हैं उसके अर्थ का चिंतन करते हैं तो भी एक प्रश्न आ जाता है मान लीजिए जो परमात्मा को निराकार मानते हैं निराकार ध्यान करते हैं उस समय वो परमात्मा के नाम ओम का उच्चारण करते हुए उसके विभिन्न गुणों का अर्थ चिंतन भी करते हैं अर्थ की भावना करते हैं ओम यानी परमपिता परमात्मा उसमें बहुत सारे गुण हैं उन बहुत सारे गुणों में से किस गुण का अभिभाव बना रखा है ओम परमात्मा सर्वरक्षक है ये एक अर्थ की भावना है वो सर्वज्ञ है ये दूसरे अर्थ की भावना होगी शब्द वही है और उस शब्द से अभिप्रेत परमपिता परमात्मा भी वही है किंतु जिस अर्थ की हम भावना कर रहे हैं वो अर्थ की भावना भिन्न भिन्न है कुछ देर हमने सर्वव्यापक अर्थ का चिंतन किया कुछ देर सर्वरक्षक का कर लिया तो शब्द वही और उस शब्द से द्योतित जो परमात्मा है वह भी वही किंतु परमात्मा के भिन्न भिन्न अर्थों का भाव हम बना रहे हैं तो यहां भी प्रश्न उठता है कि एक तरफ हम सर्वव्यापक अर्थ का चिंतन कर रहे थे और अब उसे छोड़ करके सर्वरक्षक पे आए तो मस्तिष्क तो बदला विचार तो बदला वृत्ति तो भिन्न हो गई तो जब वृत्ति भिन्न हो गई तो ये ध्यान कैसे कहलाएगा ध्यान में तो प्रत्यय की एकतानता होनी चाहिए तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यान सर्वरक्षक अर्थ को छोड़ करके हम परमात्मा के न्यायकारी अर्थ को ले लेते हैं तो अर्थ तो बदल गया ज्ञान तो बदल गया बुद्धि में बोध तो बदल गया वृत्ति बदल गई तो क्या हम इसे ध्यान कहेंगे अथवा ध्यान में किसी एक ही अर्थ को सोचना है ध्यान की जो परिभाषा योग दर्शन में कही गई है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम ज्ञान की एकतानता तो होनी चाहिए लेकिन ध्यान भिन्न भिन्न स्तर का होता है एक नया व्यक्ति जो पहली बार ध्यान करने बैठ रहा है उसको भी कुछ बताया जाता है सिखाया जाता है वो भी एक ध्यान होता है वो बिल्कुल प्रारंभ है दूसरा साधक महीने हो गए वर्ष हो गए लगातार कर रहा है वो भी एक ध्यान होता है और जो लंबे काल से साधना कर रहे हैं उनका भी एक ध्यान होता है तो ध्यान के अलग अलग स्तर होते हैं और उनके आधार पर हम इन सब प्रक्रियाओं को ध्यान के नाम से कहते हैं ध्यान का जो ऊंचा स्तर है उसमें तो एक ही विषय रहेगा एक ही अर्थ रहेगा बहुत ऊंची स्थिति है कि उसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं विचार रहे हैं लेकिन जो प्रारंभिक व्यक्ति है या अभी कुछ ही काल जिसको हुआ है वो किसी क्षेत्र को निर्धारित करके और वहीं तक अपने को सीमित रखता है तो भी ये एक बड़ी उपलब्धि है एक व्यक्ति ध्यान करने बैठा पंद्रह मिनट आधा घंटा एक घंटा और उसने संकल्प लिया कि मैं इस काल में इतनी देर तक इस मंत्र पर ध्यान केंद्रित करूंगा इतनी देर तक इस शब्द पर ध्यान केंद्रित करूंगा इतनी देर तक इस शब्द के इस अर्थ पर ध्यान केंद्रित करूंगा ऐसा कुछ उसने अपना निर्धारित किया और उस निर्धारित के अनुसार वो अभी ओम शब्द का सर्वरक्षक अर्थ रख रहा है और उस समय के बाद में फिर दूसरा अर्थ ले रहा है तो इसे ध्यान का भंग नहीं कहना चाहिए ये जो चिंतन चल रहा है ये नियंत्रित रूप से चल रहा है जैसा निर्धारित है वैसा चला रहा है उसको ध्यान कहेंगे कहना चाहिए ये भी बहुत लाभदायक है इतना करना भी लाभदायक है इस बात को स्थूल उदाहरण से समझें एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है पुस्तक पढ़ रहा है और उसने ये संकल्प लिया कि मैं आधा घंटा एक घंटा इस विषय को पढ़ूंगा और पढ़ते समय इधर उधर के विचार नहीं आने दूंगा पूरी एकाग्रता से पढ़ूंगा ध्यान लगाकर पढ़ूंगा और वो पढ़ने बैठा तो वो पृष्ठ की विभिन्न पंक्तियों को पढ़ेगा विभिन्न शब्दों को पढ़ेगा एक पृष्ठ पढ़ेगा दूसरा पृष्ठ पढ़ेगा शब्द बदल रहे हैं वाक्य बदल रहे हैं उस विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बातें आ रही हैं लेकिन वो अन्य किसी बाह्य विषय को नहीं सोच रहा है पुस्तक पर ही केंद्रित है उसी को ही पढ़ रहा है तो ये उसका ध्यान है उसने जो संकल्प लिया था उसको वो कर रहा है और ये भी बहुत अच्छी बात है एक प्रकरण एक अध्याय समाप्त हो गया तो दूसरा अध्याय उसने प्रारंभ कर दिया वहां भिन्न विषय है लेकिन फिर भी पुस्तक पर ही केंद्रित है अन्य खेल कूद की या सैर सपाटे की बात वो मन में नहीं ला रहा है ये भी बहुत अच्छे स्तर का ध्यान है एकाग्रता है और किसी व्यक्ति ने विद्यार्थी ने ये सोचा कि मेरे पास तीन घंटे पढ़ने का समय है एक घंटा में गणित पढ़ूंगा एक घंटा में सामाजिक शास्त्र पढ़ूंगा और एक घंटा में विज्ञान पढ़ूंगा अब इस तीन घंटे में निर्धारित तीनों विषयों पर एक एक घंटे में वो केवल उन्हीं विषयों पर ध्यान रखता है भले ही एक घंटे बाद में विषय बदल देता हूं फिर दूसरे घंटे के बाद में फिर विषय बदल देता हूं लेकिन यदि इस निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप वो पढ़ता है तो कह सकते हैं कि उसने और कोई विषय नहीं उठाया इसी प्रकार से ध्यान के काल में हम परमात्मा का स्मरण करते हैं परमात्मा के उत्तम गुणों को स्मरण करके अपने को भी उत्तम भावनाओं से युक्त करते हैं उत्तम संस्कारों से युक्त करते हैं और ये प्रक्रिया भले ही भिन्न भिन्न गुणों के माध्यम से हो तो की जा सकती है और उससे हमें सबसे लाभ होता है हमें परमात्मा का स्मरण करना है और विभिन्न गुणों से अपने मन को अनुप्राणित करना है संस्कारित करना है तो परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं और उन सब से हम अपने को संस्कारित कर सकते हैं वे सब हमारे लिए लाभदायक हैं तो भिन्न भिन्न अर्थों को लेते हुए यदि कोई ध्यान करने वाला निराकार का ध्यान करने वाला ध्यान करता चला जा रहा है तो उसे ये नहीं चिंता करनी चाहिए कि मेरा ध्यान भंग हो रहा है मैं भिन्न भिन्न अर्थों को ले रहा हूं वो भी ध्यान है लेकिन ध्यान में जैसे जैसे गंभीरता आएगी जैसे जैसे गहराई आएगी तो साधक स्वयं कम मंत्रों पर कम शब्दों पर और कम अर्थों पर केंद्रित होता चला जाएगा नया व्यक्ति किसी एक मंत्र पर अधिक देर नहीं टिक पाता है अर्थ की भावना वो गहरी नहीं कर पाता तो दूसरा मंत्र उस लेता है फिर थोड़ा सा परिवर्तन होता है कुछ उसकी रुचि परिवर्तित होती है मन कुछ लगता है भिन्न अर्थ लिया फिर तीसरा मंत्र लिया फिर चौथा मंत्र लिया ये सब चलता है लेकिन जब वो अर्थ की गहराई में जाता है अर्थ की भावना में चला जाता है गहराई से तो उसको वहां गहराई में जाने में बहुत अच्छा लगता है और उस गहराई को छोड़ करके वो दूसरे मंत्र पर नहीं जाना चाहता एक ही मंत्र को जैसे लगता है अभी पूरी गहराई तक नहीं गया हूं और गहराई और गहराई लगता है अभी चलता रहू इसी में और यदि उसी समय कोई दूसरा मंत्र उठाने के लिए उसे कहा जाए तो उसे लगेगा जैसे मेरी ध्यान की एकाग्रता भंग हो गई है ध्यान का स्तर कम हो गया है यदि ऐसा किसी ध्यानकर्ता को साधक को लगता है तो ठीक है एक मंत्र पर केंद्रित हो जाए उसमें अच्छी गहराई है तो उसमें केंद्रित रहे और एक मंत्र पे भी जो केंद्रित है उस एक मंत्र में पहले शब्द को लिया उसके अर्थ की भावना कर रहा है फिर दूसरे शब्द के अर्थ की भावना कर रहा है तो जो एक शब्द की भी इतनी गहराई में चला जाए उसके विस्तार में चला जाए उसे लगे अभी पूरा चिंतन ही नहीं हुआ अभी पूरी गहराई में ही नहीं पहुंचाऊं तो दूसरा शब्द कैसे उठाऊं तो ठीक है वो एक शब्द पर केंद्रित रहे जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है वैसे वैसे हमारा विचार का क्षेत्र सीमित होता जाता है लेकिन उस सीमित क्षेत्र में वो गहरा होता जाता है गंभीर होता जाता है अर्थ की भावना बहुत प्रबल होती जाती है उस सीमित क्षेत्र का भी बहुत विस्तार होता जाता है पहले बाहर का क्षेत्र बदलता था लेकिन उसके अंदर विस्तार कम होता था अब बाहर का क्षेत्र तो सीमित होता जाता है लेकिन उसके अंदर का विस्तार बढ़ता जाता है गहराई बढ़ती जाती है तो वहीं पर ही रहता है उसको अच्छा लगता है तो इतनी सारी भिन्नताएं होते हुए भी इतने सारे विभिन्न स्वरूप होते हुए भी चूंकि ये किसी एक निर्धारित क्षेत्र तक सीमित रखे जाते हैं मन को वहीं तक नियंत्रित रखा जाता है इसलिए इसको हम ध्यान कह सकते हैं कुछ प्रारंभिक ध्यान है स्थूल ध्यान है कुछ ऊपर के ध्यान है गहरे ध्यान है इसके आधार पर अपनी अपनी प्रवृत्ति अपने अपने स्तर के अनुरूप हम कुछ करते रहते हैं और उतने से हमें संतुष्ट रहना चाहिए इसे किसी दोष की के रूप में नहीं देखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में तो बहुत सारी चीजें हैं तो ये तो कैसे ध्यान हुआ वो भी पूरा लाभदायक है विभिन्न मंत्रों को बोलते हुए जो हम संध्या करते हैं उपासना पद्धति है वो भी ध्यान का पूरा क्षेत्र है वो भी बहुत अच्छे स्तर का ध्यान है उसमें सब चीजें आती हैं इस विषय में आप में से और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं सत्यव्रत जो संध्या करते हैं वैदिक संध्या मंत्रों का उच्चारण करते हैं अर्थ चिंतन करते हैं वो भी ध्यान है वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है आप निकट बैठे हैं इसलिए ये ना सोचें कि मुझे बहुत धीमा बोलना है तो तो हाँ, इनका प्रश्न यह है कि एक घंटा ध्यान करने की बात है तो यदि कोई एक घंटा उपासना करता है संध्या करता है तो भी ध्यान में आ जाएगा ठीक है कोई आपत्ति नहीं है उसमें यद्यपि आप एक दृष्टि से देखेंगे तो आप संध्या और ध्यान को अलग अलग कर सकते हैं ध्यान परमात्मा का या परमात्मा से भिन्न वस्तुओं का विषयों का भी होता है लेकिन उपासना परमात्मा परक होती है लेकिन वो भी तो एक प्रकार का ध्यान ही है हमने निर्धारित किया कि हम इन इन बिंदुओं पर मन को केंद्रित रखेंगे वो भी एक प्रकार का ध्यान है उसे भी कर सकते हैं और कोई इस, इस इच्छा के ऊपर है समय निर्धारित होता है तो अनुकूलता होती है विशेषकर नए लोगों को और हम नियमित होते हैं स्वयं को बांध पाते हैं नहीं तो शिथिलता होती है इसलिए निर्धारित समय हो अच्छी बात है लेकिन उसका ये भी अर्थ नहीं है कि निर्धारित समय से भिन्न समय हम न कर सकें ध्यान को भिन्न समय भी कर सकते हैं उसमें कोई काल का नियम नहीं है यथा अवसर यथा समय हम भिन्न काल में भी इसी तरह से स्थान की भी बात है भिन्न स्थान में भी कर सकते हैं लेकिन यदि एक स्थान है तो अच्छी बात है उससे अनुकूलता रहती है लेकिन कोई नियम नहीं है उसमें कि इसी स्थान पर हो सदा उसी स्थान पर बैठना है उसमें कोई नियम नहीं है और कोई हाँ सुकामा जी हाँ हाँ जैसे कि इनका प्रश्न यह है कि बाहर का क्षेत्र तो सीमित होता है लेकिन अंदर का क्षेत्र विस्तार होता जाता है पहले अनेक मंत्रों को लेता था मान लीजिए पंद्रह मिनट ध्यान करता है अनेक मंत्र लिए और उन सबके अर्थ किए तो अर्थ बहुत थोड़े थोड़े से होंगे जब वो उन शब्दों की और गहराई में जाएगा तो समय अधिक लगेगा विस्तार होगा मान लीजिए एक गायत्री मंत्र ही ले लें उदाहरण के लिए पहले गायत्री मंत्र बोल दिया और तेजी से अर्थ कर दिया अन्य मंत्र भी ले लिया अब वो सब छोड़ के केवल गायत्री मंत्र पे केंद्रित है वो और उनके उसके अर्थ का विस्तार कर रहा है तो उसी में समय चला जाएगा उसका और गायत्री मंत्र का भी एक शब्द मान लीजिए भू ले लिया जो बाहर का विषय विस्तार रखता है वो तो क्या भू प्राणों का भी प्राण भू शब्दों से छुड़ाने हारा स्व सुख स्वयं सुख स्वरूप इत्यादि बोलता चला जाएगा ऐसे ही दूसरा मंत्र ले लेगा जब उसका क्षेत्र बाहर का सीमित होगा अंदर का जब बढ़ेगा अंदर का बढ़ेगा तो बाहर का अपने आप सीमित होगा क्योंकि दूसरी तरफ जाने के लिए समय ही नहीं मिलेगा केवल भू शब्द पकड़ लिया प्राणों का भी प्राण वो इतना सा कह के आगे नहीं बढ़ जाएगा प्राणों का भी प्राण इस वाक्य का जो अर्थ है वो उसके मन में रहेगा प्राण जिनसे मेरा जीवन चलता है अभी विस्तार कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कौन सी चीजें जिनसे मेरा जीवन चलता है तो ये वायु है ये सूर्य है ये सब मेरे प्राण है इनसे मेरा जीवन चलता है अब ये प्राणों का भी प्राण में केवल प्राण का विस्तार कर रहा है अभी प्राण क्या है मेरे लिए जो प्राण प्रद है जीवन प्रदान करने वाले हैं उन सब का भी ये प्राण है परमात्मा अब उनका भी प्राण है मतलब इनकी वो रक्षा करता है परमात्मा के होने से ये प्राण चल रहे हैं और उन प्राणों के कारण से मेरा जीवन चल रहा है तो परमात्मा इन प्राणों का भी प्राण है तो कैसे है परमात्मा वायु का प्राण कैसे है वायु हमारे लिए प्राण है और परमात्मा उस वायु का भी प्राण कैसे है अब ये विस्तार करता जा रहा है अंदर शब्द एक ही है भू ऊपर से छोटा सा विषय है शब्द लेकिन अंदर का विस्तार अधिक हो गया है और अंदर का विस्तार अधिक होते होते वो दूसरे शब्द पे जाएगा ही नहीं भूआ पे वो जाएगा ही नहीं हाँ अंदर का विस्तार कम है तो ठीक है वो आगे आगे नए शब्द लेगा नए मंत्र लेगा और प्राणों का भी प्राण उसमें फिर जाएगा कि मेरे जीवन के लिए परमात्मा ऐसी ऐसी रक्षा कर रहा है तो उस भाव में वो बना रह जाएगा परमात्मा को प्राणों के भी प्राण के रूप में देखते हुए बस रह जाएगा काफी देर तक दो मिनट भी हो सकता है पांच मिनट भी और आधा घंटा भी और पूरा एक घंटा भी वो केवल इसमें भी रह जाए ये उसने विस्तार कर लिया अंदर ही अंदर अनुभूति को बना करके रखा गहराई में जाता गया दूसरा उदाहरण ओम शब्द का एक अर्थ बोल दिया सर्वरक्षक कि न्यायकारी कि सर्वव्यापक इत्यादि बोलता चला गया वो ना करके वो केवल एक न्यायकारी पर केंद्रित हो गया अब न्यायकारी का भी क्या तात्पर्य है एक तो केवल भाई न्यायकारी है न्याय करता है इतना कह के बस समाप्त एक उस न्याय के स्वरूप को अपने अंदर विस्तारित करता है बुद्धि में उसको और सोचता है मेरे प्रति न्याय करता है अन्यों के प्रति भी न्याय करता है आज भी न्याय कर रहा है पहले भी न्याय करता था भविष्य में भी न्याय करेगा इस पृथ्वी पर भी न्याय करता है अन्य लोकों में भी न्याय करता है ये शब्द तो मैं बहुत तेजी से बोलता जा रहा हूं अभी लेकिन इसके विस्तार बहुत अधिक है धीरे धीरे अनुभूति में न्याय करता है तो वो पुण्यों का भी न्याय करता है पाप कर्मों का भी न्याय करता है परमात्मा क्यों न्याय करता है उसकी न्याय करने की प्रक्रिया क्या है इत्यादि बातें और गहराई से विस्तार से करता जाता है करता जाता है शब्द एक ही है न्यायकारी और वो भी उसने लिया ओम से ओम शब्द बोला न्यायकारी अर्थ किया और ये विस्तार करता जा रहा है फिर और कुछ अपनी विशेष घटनाओं को ले लेगा मैंने ये कार्य किया अच्छा या बुरा जिसके प्रति अधैर्य है कि इसका तो फल मुझे मिला ही नहीं मैंने इतना अच्छा काम किया उसके प्रति जहां उसकी कमी है उस रूप में देखा नहीं परमात्मा न्यायकारी है इसका भी वो न्याय करेगा समाज ने कोई प्रशंसा नहीं की समाज ने कोई प्रतिफल नहीं दिया कोई पैसा नहीं मिला तो भी उसको चिंता नहीं होगी आखिर ईश्वर को न्यायकारी मानने का फल कहां पहुंचेगा प्रभाव हमारे ऊपर कहाँ आना चाहिए कि हम उसको न्यायकारी अनुभव कर पाए और न्यायकारी अनुभव कर पाए तो हम चिंतित ना हो जब समाज में हमारे साथ कुछ कोई न्याय ना हो तो उसकी चरितार्थता तो उस अनुभव में व्यवहार में है कि उसे अन्याय की प्रतीति ही नहीं हो कि मेरे साथ कोई अन्याय हो भी सकता है परमात्मा के द्वारा उस स्तर पे वो देखने लग जाता है शब्द एक ही है वो ओम न्यायकारी हो सकता है पूरा घंटा न्यायकारी में ही चला जाए फिर भी लगे कि मैं न्यायकारी अर्थ को पूरी गहराई से सोच और विचार नहीं पाया हो सकता है अगर एक शब्द में भी आपकी पूरी आधा घंटा एक घंटा निकलता है कोई बात नहीं है अच्छी बात है पर ये तब करना चाहिए जब हमारा विस्तार और गहराई